और अगर हम नुकसानदेह हवा चला दें जिसके नतीजे में वो अपने खेत को पीला पड़ा हुआ देखें तो उसके बाद ये नाशुक्री करने लगें